भगवद गीता पंचदश अध्याय पंचम श्लोक तक कुछ विचार हो गया है इसमें उस परम पद को प्राप्त करने वाले अधिकारी का क्या लक्षण होगा इस जीवन में कहा निर्माण मोहादित संगोषा अध्यात्म नित्यात्मकृत काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय इतना में होगा गच्छंत तमूरा परम दैवता मान रहित निर्मा मान और मोह मान माने होता है अभिमान देहाभिमान मैं ऐसा हूं वैसा हूं और मोह माने अविवेक ये दोनों निकल गए जिससे तो साधक का लक्षण ऐसा परम पद के अधिकारी जो साधक मान मोह का रहित शरीर में अभिमान नहीं है मैं धनी हूं अमुक हूं विद्वान हूं ये हूं सब कोई अभिमान नहीं मान शरीर का अविवेक का भी अभाव है विवेक है उनमें प्रकृति पुरुष का ज्ञान है और संग दोष को जीता है जिन्होंने संग रूपी जो दोष है संग ही दोष है उसको जीत रखा है कहीं भी संग नहीं उनके ऐसे तो होते हैं और आत्मज्ञान में नित्य रहते हैं वो अध्यात्म नित्य हाँ, आत्मज्ञान में है उसी में विचार उसी का सर्वाधिक में लगे हैं विनिवृत्त काम सारी इच्छाएं जिनकी विशेष रूप से निवृत्त हो गई है सामान्य तो अलग बात है काल भोजन करते हैं थोड़ी देर के लिए इच्छा की निवृत्ति हो जाती नहीं चाहिए थोड़ी देर बाद फिर लाव लाव हो जाते हैं विशेष रूप से नहीं गई थी इच्छा निवृत्त तो इसलिए बी लगाया विशेष रूप से निवृत्त हो गए काम मानी इच्छाएं जितने भी हैं मान संसार के विषय की इच्छा रही है व्यक्ति द्वंद्व सुख दुखादि जो द्वंद्व होते हैं एक के बाद एक के बाद जैसे दिन के बाद रात्रि रात्रि के बाद दिन इसी प्रकार सुख दुख जन्म मृत्यु इत्यादि भोग प्यास षणूर में कहा जाता है जिनको द्वंद्व कहलाते हैं तो इनसे रहित है जो लोग मुक्त है द्वंद्व से मुक्त है सुख दुख नाम जो द्वंद्व है उससे मुक्त है उसके साधन से भी मुक्त है कावासी काम में केवल द्वंद्व से नहीं उसके साधन से भी मुक्त है दुख के साधन दूसरे की हिंसा आदि नहीं करते सुख के साधन आर्जन करने की इच्छा नहीं है फल नहीं चाहिए तो क्यों उसका साधन आवेदन करेगा इत्यादि ऐसे अमूढ़ा जो मूर्ख नहीं है देहात्म बुद्धि वाले नहीं है विवेकी है तत् पदम अव्ययम पदम गच्छन्ति जो अविनाशी पद है परमात्मा को प्राप्त होते हैं जाते हैं गच्छन पर जाते नहीं क्योंकि परमात्मा के जो जाने वाले स्वर्ग आदि जाने वाले तो जाते हैं औपाधिक विशिष्ट अवता में जीव का जाना जैसा लगता है किंतु जो निरुपाधिक भाव में है वह जाना नहीं होता उनके लिए तो कहा सकुड़ी नाम इव आकाशे जले प्यारी तरस्य पदम न बिंदते यदवत तद्वत ज्ञान बताम गति जैसे आकाश में पक्षी उड़ती हो उसके पदचिन्ह लेकर के ढूंढ नहीं सकते किधर गई पक्षी गाय आदि खो जाते तो पद चिन्ह जो खुरी का चिन्ह है उसके द्वारा ढूंढा जाता है खो जाने पर किंतु पक्षी के पद चिन्ह के द्वारा पक्षी को पकड़ने को आगे कहा नहीं हो शकुनी माने पक्षी शकुनी नाम आकाश है जैसे पक्षियों का आकाश में गमन होने पर पद चिन्ह नहीं मिलेगा कहां भी पक्षी पता नहीं लगेगा जले तरह से जल में विचरण करने वाले मत्स्य आदि जितने भी बारिचर है जलचर उनके पदचिन्ह के द्वारा उनको ढूंढना संभव नहीं है उनका पदचिन्ह बनता ही नहीं वहां इसी प्रकार पदमन बिंदते यद जिस प्रकार उनके पदचिन्ह नहीं मिलता जैसे पक्षी का आकाश में पदचिन्ह नहीं मिलता जल में जलचरों का परिचिन्न नहीं मिलता ठीक है इस प्रकार ज्ञान वालों ज्ञान वालों की गति भी ऐसी होती है कहा गए पता ही नहीं लगेगा और जाते ही नहीं वो अत्य से प्राण उत्क्रांति अत्र समय देते होती है आना जाना नहीं होता वहां यही होता है वो पद्म पद को प्राप्त होते हैं माने प्राप्ति की प्राप्ति है माने अप्राप्त जैसा लग रहा था जिसको कंठ चामी कर न्याय बोलते युक्ति बोलते हैं गले में पहना हुआ हार गले में ही खो जाता है बुद्धि से खो जाता है नहीं ये मान्यता आ जाती है उस स्थिति में कोई ना कोई एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है अरे हार तो तेरे गले में है कहने की आवश्यकता होगी ठीक इस प्रकार अपना स्वरूप होता हो भूल भुलई हो है अपना स्वरूप ही है जिसको प्राप्त करना समझता है द्वैत भाव से चलना चाहता है अपना स्वरूप ही है वो द्वैत नहीं है किंतु जब उसने द्वैत भाव में मान लिया परमात्मा भिन्न है मैं भिन्न हूं अज्ञान काल में समान बैठा है मुझे साधन करके परमात्मा को प्राप्त करना इत्यादि मान्यता रखी है उस स्थिति में मुख्य रूप से साधन बताएंगे गुरु होंगे जो बता देंगे अरे तो हालमांसा का पुतला शरीर नहीं है इसको हटाकर देख तो क्या होता है इसे अलग करके अपने को देख तो ऐसा बतलाने पर तत्व मसी बाहर करके सुनाएंगे शरीर और पृथक होने पर तुम वही हो हाँ, फिर जीवत तो दिखा नहीं सकते हो ऐसा बोलने पर हाँ समझ गया मैं ही बोली बस हो गया पहले भी प्राप्त ही था प्राप्त होता हुआ अप्राप्त जिस भान था उसी प्राप्ति है जिसको कंठ जामी करके आज बोलते हैं लोग में सामान्य जनों लोग में प्रसिद्ध है गोद में बच्चा बाजार में ढिढोरा गोद में लिया हुआ बच्चा को तो। उसको बुद्धि में बच्चा खो गया ढूंढना इधर उधर ढूंढना दूसरे से पूछना इस प्रकार है आगे कहते तच्चेत पदम देते वो जो पद है गच्छन दे पदम पद्म कहा हुआ है वहां अमूर विवेकी लोग उस पद को प्राप्त होते कहा वो वो जो पद यदि ये यदि वो पद यदि वेद्य है कर्म है जानने योग्य है तो जानने वाला ज्ञाता दूसरा होगा वेत्ता दूसरा होगा वेद्य दूसरा होगा तब तो द्वैत हो जाएगा फिर अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी शंका है चेत माने यदि अव्यय है उस चेत का अर्थ अभी यदि तत्पदम वेद्यम यदि वो पद वेद्य है मान कर्म बनता हो जानने का विषय बनता हो तो कर्तूर अन्य कर्म कर्ता से अन्य कर्म हो गया कर्ता कर्म एक नहीं हो पाया भिन्न हो गया इसलिए क्या होगा इतनी द्वैता पाप द्वैत की आपत्ति आपके ऊपर क्यों आप अद्वैतवादी है द्वैत की आपत्ति अवैध्यम से यदि ऊपर अवैध्य है जाना नहीं जाता कर्म नहीं बनेगा विषय नहीं बनेगा यदि ऐसा है तो अपवाद पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी क्या प्राप्त करना साधना करके क्या मिला कुछ भी नहीं मिला किसी को प्राप्त करना होता है प्राप्ति है अवैध यदि हो तो कर्म विषय के बनता हो तो अपव्रत हो प्रेपसी तत्व असिद्धि जो प्राप्त करना इष्ट था वो असिद्ध हो जाएगा ये शंका पूर्वादि की है पूर्वादि में हमारी मन में शंका आ जाती है उस स्थिति में आह भाष्यकार कहते हैं तदेव पदम पदम पुनर्विशेषण उसी पद का फिर विशेषण लगा देते हैं गच्छन्ति हम उड़ा पदम व्ययम तद तो कौन जाते हैं तो ये लोग जाते हैं जो निर्माण वहां से जिनसंग दोष आदि है उस पद को प्राप्त होते कहा वो पद और विशेषण लगाते हैं क्या है वो इस श्लोक का उच्चारण हो गया था यही था न तदभा सहित सूर्यो को न पावक और यद निर्वर्तन थे तद धाम परम में कहा हुआ है उस पद को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता स्थान को और चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं कर सकता अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती भौतिक पदार्थ को प्रकाश करने वाले हैं ये उस आत्मा को प्रकाश नहीं कर सकते यदगत्वा न निवर्तन थे जहां पहुंचने पर फिर वापसी नहीं होगी ऐसा स्थान है तो मान तीनों शरीरों से अगर अलग होता हो तो फिर शरीर बुद्धि में नहीं आएगा आगे वापसी नहीं होगी वही तत्परम परम धाम मम ऐसा करना वही जो परम धाम मेरा है तत् धाम मम ऐसा तत्पद का परम के आगे लगा तत्पद को परमम धाम परम विशेषण धाम का तत् परम धाम मम ऐसा करना ये कहा था भाष्य में तत् धाम यदि व्यवहित संबंध तत्पद का ना व्यवहार पूर्व संबंध करना तत्परम धाम मम ऐसा करना धामना संबंध धाम के साथ तत्पद का संबंध होगा व्यवधान पर परम पद वह विशेष व्यवधान पड़ेगा तद परमम धाम मम ऐसा होगा धामम तेजो रूपम धाम का अर्थ प्रकाश स्वरूप है मेरा स्थान जो कि आदित्य आदि को प्रकाश करने वाला मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे वो धाम का अर्थ तेज धाम तेजो रूपम धाम मन तेज स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है ज्ञान रूपी प्रकाश भौतिक प्रकाश नहीं ज्ञान रूपी प्रकाश पदम जो तेजो रूप पद है धाम का अर्थ वो पद न भाष्य तेज उस पद वो जो प्रकाश स्वरूप पद है पद का अर्थ धाम वह सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता उसको सूर्य मैंने आदित्य बोल दिया है आदित्य सर्वभाषण शक्तिमत हो सारे विषयों का प्रकाश करने की शक्ति आदित्य में शक्तिमान है वो भौतिक पदार्थ कोई भी आदित्य से प्रकाशित हो जाते इतनी, इतनी बड़ी शक्ति है वो भी उस धाम को प्रकाश नहीं कर सकता ये कहना है आदित्य है मन सूर्य सर्वभाषक शक्तिमत्व सारे के प्रकाश करने वाली शक्ति उसके पास है शक्तिमान है वो सर्वभाषक शक्ति कौन सी शक्ति ऐसे शक्तिवान होने पर भी सती न तद भाषा है उसकी प्रकाश उसको प्रकाश नहीं कर सकता ऐसा काम है तो ये कहा तथा उसी प्रकार जिस प्रकार आदित्य प्रकाश नहीं कर सकता तथा मैंने उसी प्रकार न ससांग मैंने चंद्र ससा अंके जिसके कोने में खरगोश पड़ा हुआ है खरगोश का चिन्ह है वहां इसलिए शशांग कहते हैं चंद्रमा को चंद्रमा में गहराई से देखे तो बीच में काला काला दिखता है तो खरगोश का चिन्ह मानते हैं ससा मैंने खरगोश होता है न पावक ये जो भौतिक अग्नि है ये भी उसको प्रकाश नहीं कर सकता जैसे दीपक आदि है या अग्नि जितने भी है प्रकाश नहीं कर सकते न तक न पावक माने अग्नि रपी न अग्नि भी प्रकाश नहीं कर सकता न तद भाषा है उस पद को प्रकाश नहीं कर सकता ऐसा ठान है यह धाम वैष्णव पद जिस धाम को वैष्णव पद कहा हुआ है व्याप्त पद का व्यापक कहा हुआ है वैष्णव व्याप्त है व्यापक है गत्वा जिस व्यापकता को प्राप्त होकर के जीव अभी उपाधि हटा करके जो व्यापकता में पहुंचता है वही धाम होता है मेरा प्राप्त न निवर्तन है फिर वापस करते शरीर आदि ग्रहण नहीं करते यच्च सूर्य आदि प्रभाषित जो स्थान ऐसा है सूर्य आदि प्रकाश नहीं कर सूर्य चंद्र अभी प्रकाश नहीं कर सकते जिसको तद धाम पदम धाम माने जो पद शब्द से पहले बोला था अभी धाम बोला हुआ है पंचम शब्द पद शब्द से कहा ष्ठ शब्द को धाम से कहा तत्नाम पदम परमम मम विष्णु परम पद है मम विष्णु का परम स्थान वही है मम मन विष्णु हो मम शब्द तो विष्णु सष्टम है ये कहा ठीक है इसमें है ही नहीं माने ये व्यापक है वेद्य अवेद्य कहना संभव नहीं है परमात्मा स्वरूप ही है परमात्मा ये जान परमात्मा को जानेगा ऐसा नहीं है ज्ञाता और ज्ञ दो नहीं है यहां एक ही है ये उत्तर है इसका उपाधि से कारण भिन्न वहां भाष रहा था उपाधि हटाने पर वही है इसके दृष्टांत देंगे अगले श्लोक में दृष्टांत के भाष्य का ऐसी स्थिति है ठीक है मैं उत्तम अविद्या आक्षपति ये जो पूर्व बात है न है तो थे सूर्य न शाम को न पाओगा जो अनुवाद करके आगे आक्षेप करता है पूर्व पक्ष शंका उठाता है क्या शंका यदगत्वा न निवर्तन थे उत्तम पूर्व श्लोक में कहा था जहां जाने पर वापस नहीं होता मेरा स्थान है कहा ये वो कहा उत्तम जो कहा है नानो सर्वाही गति पूर्वाज ये बोलता है सभी जितने भी गति होती है जाना होता है आने के लिए होता है जो गया है वो आएगा ये स्थिति है तो वह जाने वाला क्यों नहीं आता तद धाम परम निर्वर्तन निर्वर्तनते जहां भी गति स्वर्ग जाता है तो वापस आता है नरक भी जाता है वापस आता है कहीं भी जाता है वापस स्थिति की है नानो सर्वा ही गति ही माने अस्मात कारण सभी गति है जितने भी होती है वह आगति अंता अंत में आगति में समाप्त होते किस में आगमन में समाप्त होते हैं गति भी है महाभारत में इसको कहा हुआ है चार बातें ध्यान रखने बात कहा हुआ है महाभारत का ही संयोगा विप्रयोग आता है सर्वे क्षयांता निचया पतनांता सबुक्षय संयोगा विप्रयोगांत मरणम ही मरणम ही जीवन मरणांतम ही जीवन ये चार बातें बताई हुई है जितने भी हम संग्रह करते हैं सर्वे क्षयांता निचय निचय मैंने संग्रह आगे छह एक दिन क्षय में समाप्त होना है नाश होना उनका उसी में समाप्ति होती है उसकी सर्वे क्षयांता निचय जितने भी हम संग्रह करते हैं जो भी संग्रह होगा आगे क्षय होने के लिए होता है नाश के लिए होता है उसके अंतिम परिमाण नाश है संग्रह का पतनाम पतनांता समुच्छ्रया जो ऊंचे ऊंचे पहुंचे पद से धन से सम्मान से जो भी होंगे ऊपर पहुंचे गिरने के लिए होते हैं आज प्रधानमंत्री बना कल चुनाव हारता है सामान्य हो जाता है आज मंडलेश्वर बना कल हो सकता है ट्रस्टी हटा दे तो सामान्य साधारण अन्य क्षेत्र में जाना पड़ेगा साधारण हो जाता है पतनामता समुश्रया जो ऊंचे होते हैं वो नीचे होने के लिए होते हैं बांस से सीखना चाहिए बांस जल्दी से ऊपर जाता है किंतु बाद में झुक जाता नीचे हो जाता है ऊपर जाने वाले को झुकना पड़ता है डूब को कभी झुकना नहीं पड़ता वो नीचे ही रहता है और चलता रहेगा कभी मरता भी नहीं वो धूप से शिक्षा लेनी चाहिए और बांस से कभी ऊंचे होने की आशा नहीं रखनी चाहिए ऊंचा होने वाले को नीचा भी होना पड़ेगा दूब जैसा रहे तो नीचा होने के सवाल ही पहले से नीचा है ठीक है सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्छया जो ऊंचे गए हुए जो भी होते हैं धन में हो पद में हो जिसमें भी हो रूप में हो जवानी में हो कहीं भी ऊंचे पहुंचे हैं वो गिरने के लिए होता है पतन के लिए होता है वो संयोग होगा विप्रवत जहां संबंध होगा एक दिन विग्रह होगा मान वियोग के लिए होता है संयोग जो होता है वियोग के लिए होता है यही है संयोग आपने पूर्व है गति और आगति को लेकर पूर्वाज वहां से वापस क्यों नहीं होगा प्रश्न भी लाया महाभारत के श्लोक काल दिखा रहे यदि गतवार निर्वर्तन बोला जाने वाले तो वापस आते हैं क्यों सब योगाभ्यपूर्वक ना कहा जहां पहुंचे वहां से वियोग होना ही होगा ना क्यों नहीं होता वहां जाने वाले के वियोग यही प्रश्न है और मरणाम तभी जीवनम कहा हुआ है चौथा जो जीवन जो होता है कहां से आके समाप्त हो मरण में अंतिम में मरना ही होगा उसको यदि जीवन है तो मरना ही पड़ेगा ये महाभारत में चार बातें ऐसी बताई है सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुश्रय समयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवनम तो समयोगा विप्रयोगांता कहा हुआ है तो उस पद में जाने वाले की वापसी क्यों नहीं होती प्रश्न ही उठा है यदगत्वानिवर्तन जब सुना अपना परिचय दिया उस परमात्मा ने जहां जाने के बाद वापस नहीं होते वो मेरा प्रकाश रूप धाम है धाम मैंने कोई मिट्टी पत्थर का धाम नहीं है प्रकाश पुंज ज्ञान रूप प्रकाश तो बाप को कहा समझोगा का का था वहां से यहां उस आत्मभाप को प्राप्त हो कि वापसी क्यों नहीं होती है प्रश्न है उत्तर रहे आगे अरे बाबा आगे श्लोक से उत्तर दे रहा है अरे जो जिस जो प्राप्त करने वाला कहते हैं ना जीव परमात्मा को प्राप्त करेगा मान्यता है वो तो मेरा ही स्वरूप है वो मेरा स्वरूप ही है प्राप्त ही हूं पहले से मैं उसको भिन्न है उपाधि के कारण से अप्राप्त जैसा उसको लग रहा है उपाधि हटाएगा तो मेरा स्वरूप ही होता है इसमें दो दृष्टांत देंगे प्रतिबिंबवाद भाष्यकार दो प्रतिबिंबवाद अवच्छेदकवाद दो क्योंकि वेदांत तो तीन बात लेके चलते हैं आवासवाद प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदकवाद पंचदशी का और विद्यापन स्वामी आभास बोल रहे चिदाभास चिदाभास चिदाभास चेतन का आभास छाया वास्तव में है ही छाया है ये जो अंतकर्म के पास रहा है छाया है वास्तव में वो परमात्मा नहीं है परमात्मा एक ही है बस ये पंचदशी का बोलते हैं उसको चिदाभास चेतन का आभास आभास पर छाया जैसे मनुष्य की छाया दिखती तो उतने लंबी चौड़ी दिखती किंतु कोई काम के नहीं है स्थिति है इसकी सत्ता ही रही सत्ता ही समाप्त कर देते प्रदेश का फिर व्यवहार कैसे करे तो कहे अरे बाबा उस परमात्मा की छाया है तो इतना व्यवहार कर रहा है परमात्मा में क्या नहीं हो सकता ऐसा देख सकते हैं पद्मपादाचार्य जी कहते हैं प्रतिबिंब व्यवहार है वो बिंब स्थान में परमात्मा है प्रतिबिंब स्थान में यह है ये मानते हैं और बाचस वाचस्पति विसर्ग है अवच्छेदक बात वही परमात्मा ही है यहां दूसरा नहीं है उपाधि के कारण से छोटा दिख रहा है परमात्मा ही है जैसे आकाशी उपाधि के कारण से घट में छोटा दिखाई पड़ रहा है आकाशीय ये नहीं कि कल्पित आकाश नहीं वास्तविक आकाश है घट में वो तो उपाधि छोटी होने से छोटी छोटा दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार यहां भी है, है परमात्मा ही है ये वाचस्पति मिश्र का कहना है तो तीन बात में दो पादों की चर्चा करेंगे प्रतिबिंबवाद वहां से जीवलों के कहने के लिए दो बात लेंगे यहां ये कहा है ये उत्तर देना चाहते हैं कहा ये कहा था तो भाष्य में कह रहते अवतरण भाष्य यदगत्वा तो उत्तम पूर्व में कहा यदगत्वा थे तदामा परमम ष्ठ श्लोक में कहा हुआ है तो नौनो सर्वाही गति जितने भी गति होती है जहां जहां स्वर्ग जाए नर्ग जाए कहीं भी जाए वह प्रसोना होता है हमेशा वहां नहीं रहता सर्वाही गति आगति अंत अंत में आने के लिए होता है अंत में आगमन में समाप्त होती गति जो गया है वो आए तो क्यों संयोगाभिप्रयोगता इति महाभारत शांति पर्व में कहा हुआ ये बात संयोगाभिप्रयोगता जो संयोग होता है वियोग के लिए मत गति है उस स्थान में पहुंचा है तो वहां से वियोग होगा आगति होगी तो यहां यदगत्वा निर्वर्तन कैसे बोला इस शंका है ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध है जो गति होती है आगति के लिए होता प्रसिद्ध है प्रथम उच्चते फिर ये कैसे कहा यहां यदगत्वा थे तद्धाम परम कैसे बोला तद्धाम गता उस स्थान प्राप्त जो परमात्मा स्थान को प्राप्त है धाम मान प्रकाश पुंज प्रकाश को परमात्मा प्राप्त होने पर नास्ती निवृत्ति उसकी निवृत्ति ने कैसे कहा यहां निवृत्ति तो होती है क्योंकि संयोग आप कहा हुआ है उसमें संबंध हो गया तो बाद उद्योग भी होना चाहिए वहां वियोग क्यों नहीं होता उस स्थान से एक प्रश्न है तो उत्तर देना चाहते हैं श्रीणो तत्र कारण से उत्तर देना है सिद्धांत श्लोक से भगवान से करो उसे कारण समझो संसार में जाने वाले को तो आगति होती है वापस होते हैं किंतु यह स्थान ऐसा स्थान है वहां से आगति नहीं होती पहुंचने पर आगमन नहीं होगा ऐसा स्थान है बोलना चाहते यही है <clears throat> श्लोक है मवैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सष्टा इंद्रिया प्रकृति स्थान कर्षते ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन सष्टा इंद्रिया प्रकृति स्थान कर्षते ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन जीवलोक जीव सनातन जीवभूत मम ही अंश जीवलोक में मनुष्य लोग जो जीवलोक है इसमें जो जीव बना हुआ जो सनातन है अनादि अनंत पुरुष है जीव रूप में भाष रहा है मम का अंश मेरा ही अंश है वो अंश माने परमात्मा टूट करके बन गया नहीं रहा अंश ऐसा अंश नहीं है औपाधिक अंश उपाधि के कारण से अंश जैसा लग रहा है वास्तव में भाग नहीं हो सकता निर्भय परमात्मा भाग नहीं हो सकता का, का, तो काल्पनिक अंश है यहां मेरा ही अंश है माने मैं ही हूं ये कहना है ये जीव मैं हूं ये उपाधि को तो जब हटा दिया तो मेरे स्वरूप से अतिरिक्त तो होता ही नहीं वो मैं ही हूं ये कहना है जीवलोक जीवलोक संसार में जीवलोक संसार है संसार में सनातन जीव जीवभूत सनातन जो सनातन है आज अनादिकाल से चल रहा है जीव स्वरूप में भास रहा है जो तत्व मुंबई का अंश मेरा ही अंश हो अंश हमारे वास्तविक अंश नहीं यदि वास्तविक अंश मानेंगे तो दोष आएगा परमात्मा रहेगा ही नहीं समाप्त हो जाए क्यों जीव कितने हैं असंख्य है गिना नहीं जाता तो जितने भी बड़ा पहाड़ हो टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा काट काट के काट काट के जाने में क्या बचेगा उसमें कुछ नहीं बचेगा तो परमात्मा समाप्त हो जाएगा जीव वास्तव टूट करके आता हो तो और अपने से टूट टूट के निकलता हो किताब भी बड़ा पहाड़ हो जैसे जैसी से कटा कटा के समाप्त करेंगे कुछ बचेगा ही नहीं स्थिति ऐसी हो जाएगी परमात्मा बचने वाला नहीं है ऐसा मानने पर वास्तविक अंश मानने पर यह काल्पनिक अंश है वास्तविक नहीं उपाधि के कारण जैसे घट में आकाश वास्तव आकाश ही है आकाश से भिन्न नहीं है क्योंकि तो, तो छोटा देखने के कारण हम घट आकाश बोल रहे हैं उपाधि के कारण घट रूप उपाधि से आप छोटा दिख रहे हैं उस उपाधि को तोड़ो आकाश ही हो आकाश से नहीं हो सकता हो ऐसी स्थिति है अवच्छेदक बात क्या है प्रतिबिंबात ऐसा होता है जैसे सूर्य के जल पे प्रतिबिंब पड़ा छोटे से पात्र में जल हो तो छोटा सूर्य दिखेगा प्रतिबिंब और समुद्र में हो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा जैसे जैसे उपाधि वैसे वैसे दिखेगा किंतु वहां पर छोटा बड़ा पड़ा नहीं है वहां बिंब में सूर्य एक ही है तो इसको सूर्य रूप में देखना हो जो प्रतिबिंब पर यह पड़ा हुआ इसको कारण क्या जल को सुखाना पड़ेगा जल रूपी उपाधि के कारण से दिख रहा हो जल को सुखाना हमारे चेहरा दिखता है शीशा में शीशा को तोड़ देंगे तो चेहरा कहां गया वो यही था वो था ही नहीं यही था यही सिद्ध होता है ठीक इस प्रकार है उपाधि को लेकर के यह जीव कहा जाता है छोटा कहा जाता है मेरा अंश है इस औपाधिक अंश वास्तविक मही हूं इसलिए यहां पर वेद्य और वेदता दो नहीं हो सकता वेद्य और वेदता कर्म और कर्ता दो नहीं बन सकता मैं कर्म बनू और जीव कर्ता बने वो प्राप्त करने वाला तो मेरे धाम को आने वाला और मैं प्राप्य ऐसा नहीं हो सकता एक ही है उपाधि का भेद दिख रहा है ये कहना है कहा जीव लोग इस संसार में जीव लोगों ने संसार है जीवों का लोक संसार सनातन जीव भूतम हो गई अंश सनातन जो जीव स्वरूप है मेरा अंश ही है मैं ही हूं ये कहना चाहते हैं तो जब यहां से निकल के जाना होगा इसको जीव को शरीरांतर में जाना होगा अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ है स्वर्ग आदि जाना हो शरीरांतर में जाना नरक जाना हो स्वर्ग कर्म के आधार पर जैसा होगा तो मन सहित जो छह इंद्रिया है पांच ज्ञान इंद्रिया और मन ये कहते हैं मनस स्थान जिसमें मन छठा है बाकी इंद्रिया है तो इंद्रिया प्रकृति स्थान है ये प्रकृति क्या है प्रकृति में स्थित है कहा है प्रकृति में रहने वाले हैं प्रकृति के कार्य है मन भी है इंद्रिया भी प्रकृति के है उसमें रहने वाले इनको खींच लेता है अब ये जब थानांतर में पहुंच जाते हैं तो जीव का भी गया हुआ जैसा होता है क्या होता है जीव वास्तव में जाना नहीं व्यापक है परमात्मा स्वरूप व्यापक है जैसे घट बनने के कारण घटाकाश छोटा दिखाई दिया हमें वो घट को यहां से हटाएंगे दूर करेंगे तो आकाश भी जाता हुआ लगता है कौन सा आकाश घट के घेरे में पड़ा हुआ है जो खाली पना जाता हुआ लगता है क्योंकि तो वास्तव में आकाश में जाना समझ क्यों पाता है जहां जाना हुआ पहले से आकाश है और यह नहीं कि यहां से वो घटा घट ले गए तो घटाकाश गया समझा वह आकाश का अभाव होगा ऐसा होगा क्या आकाश रहेगा वहां भी जहां जाना वहां भी आकाश है व्यापक है जीव का आना जाना बनता नहीं वो मेरा स्वरूप ही है कहना यह उपाधि के कारण से आना जाना जैसा लग रहा है वास्तव में आने जाने वाली उपाधि यहां है जीव आना जाना नहीं जीव का वास्तविक स्वरूप है ये कहना है मनसष्टान इंद्रियाणी मन जिसमें छठा है ऐसे इंद्रियों को प्रकृति स्थानी कहा होते हो तो प्रकृति में स्थित है आत्मा के नहीं है ये प्रकृति क्या है कर सती उसको खींचता है मान शरीर से तत्त गोलक से खींच देता है इन उपाधियों को खींचता है उपाधि फिर शरीरांतर में प्राप्त होगी जाकर के इसका भी गया हुआ जैसा लगता है वास्तव में आने जाना नहीं है कहा हुआ भाष्य होगा ठीक है पहले तत्र प्रसिद्धि प्रमाणित प्रसिद्धि है लोक में प्रसिद्धि है समयोगा विपुरता महाभारत में है प्रसिद्धि कहा है महाभारत का श्लोक है पर जो जाते हैं वह वापस आते हैं संयोगा विपरीतता यहां पहुंचते हैं वहां से वापस होना होता है तो प्रसिद्धि को ही प्रमाण बना दिया महाभारत के श्लोक को बना दिया यही है संयोगा विपरीतांत कहा गमन से तरत्व प्रसिद्ध है जो गमन होता है आगमांतर अवश्य है उसको जो जाता है जरूर आएगा स्थिति ऐसी है तो यदगत्वा बोला हुआ पुरुष लोग यदि गया है तो आएगा क्यों नहीं आएगा जी यह प्रश्न है गमन से आगमन तरत्व प्रसिद्ध है गमन जो होता है आगमन के लिए होता है प्रसिद्ध है होने से अयुक्तम यदगत्वा इत्यादि उपसवर्ग पूर्वादि अपर प्रवचन को समाप्त करता है जो यदगत्वा निर्वर्तन से जो कहा वो अयुक्त है ठीक नहीं है जो गमन होता है आगमन के लिए होता है कथम इत्यादि पूर्वादि ने प्रश्न उठाया था प्रथम उच्यते तत्धामगता नाम नास्ती विवृति थी ये भाष्य में अवतरण में कहा था कैसे कहा जाता है कि उस धाम में पहुंचे हुए को वापसी नहीं होती निवृत्ति कैसे नहीं क्यों कहा ये प्रश्न होता तो तत्र से कारण बोलेंगे यही बोलना है आक्षेपों पर पूर्वाजी का आक्षेप था हाँ, जो गति होते हैं आगति के लिए होते हैं तो ये भी गया है तद यदगत्वा निर्वर्तन थे बोला जो जहां जाकर के वापस नहीं होता तो जाना है तो आना होगा क्यों कैसे कह दिया कि यदगत्वा निर्वर्तनते ये कहने पर सिद्धांति उस आक्षेप का खंडन करते हैं श्रृणो तत्र कारण इत्यादि का उस कारण सुनो बाबा ये जीव जो है ना वास्तव में जाता नहीं मेरा स्वरूप ही है ये तो उपाधि के कारण से मैंने छोटा हो गया उपाधि जाने से जाना जैसा लगता है जाना जैसा भान होता है वास्तव में जाता नहीं है व्यापक है कहां जाना उसने जहां न हो वहां जाना होता है ऐसा तो है व्यापक है व्यापक में वहां न हो यहां वहां जाना बनेगा नहीं जो परिचिन्न वस्तु होगा यहां है वहां नहीं है तो यहां से वहां जाना बनता है उसका यहां खाली होगा वहां पहुंचेगा तो अपरिचिन्न है व्यापक है कहा यहां वहां जहां जाना हो पहले से विद्यमान है कहां जाना उसने जाना संभव नहीं उपाधि के जाने से वह आरोप हो रहा है ये जाता है करके जैसे घट को यहां से हटाते दूर करते हैं घट परिचिन्न उसका आना जाना संभव है किंतु घटस्थ जो आकाश होगा जिसको घटाकाश बोलते हैं उसको भी जाना जैसा लगता है वास्तव में आकाश जाता नहीं है क्या आकाश हुआ नहीं था क्या था वहां है पहले से जहां जाना घट जहां पहुंचेगा आकाश पहले विद्वान और खाली होगा आकाश क्या यहां से गया या खाली नहीं वैसे ही इसमें आना जाना संभव नहीं है तो ये तो औपचारिकता से कहा यदि निर्वर्तन कहा हुआ है वास्तव में आना जाना नहीं है ये कहा हुआ है भाषा का ममैव मम माने कौन परमात्मा ना है परमात्मा नो अंश मम माने परमात्मा परमात्मा बोल रहे हम शब्द के द्वारा अस्मत शब्द से ममैव परमात्मनो अंशो परमात्मा का अंश है मैं ही परमात्मा हूं मेरा ही अंश है जी मेरा ही स्वरूप है अंश माने भाग एक एक भाग है बोलते हैं काल्पनिक भाग वास्तविक नहीं अवयव उसी का अर्थ किया अंश का अर्थ है भाग भाग का अर्थ अवयव मेरा ही अवयव है हाँ, उसका अर्थ करते एक देश हाँ, मेरा ही एक देश है जीव यदि अनर्थांतरम ये पर्यायवाचक शब्द है अंश भाग एक देश इत्यादि अवयव कहना ये पर्यायवाचक है शब्द अनर्थांतर अर्थांतर नहीं विषयांतर नहीं है जीव लोके में जीवानाम लोके संसारी जीवों का जो लोग है ना संसार इसमें जो जीव कहला रहे हैं मेरा ही अंश है मेरा ही स्वरूप है ये कहना चाहते हैं जीव अभूत जीव बना हुआ है वर्तमान में जीव भाष रहा है क्या कर्ता भोक्ता रूप में भाष रहा है अभी उपाधि के जो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो अपन में आरोप किया हुआ है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बुद्धि का काम है बुद्धि में तादाद में करके बैठा हुआ अभी जीव कहलाता वही होता है जीव जीव कहने से कर्ता भोक्ता रूप में अभी है जीव भूता कहा उसका अर्थ कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्ता भोक्ता स्वरूप जो व्यवहार काल में पाया जा रहा है उपाधि काल में वो जीव भूत माने भोक्ता कर्ता यदि प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता प्रसिद्ध है जो जीव संसार में सनातन है सनातन है माने इसका कभी अनादि है अनंत है ऐसा कैसे कैसे ये मेरा अंश हवैवांश बोला हुआ है सनातन जीव मेरा ही अंश है कैसा अंश दो दृष्टांत भाषिकार देते हैं ऐसा अंश समझ रहा वास्तविक नहीं काल्पनिक अंश वास्तविक तो मेरा स्वरूप है यथा जल सूर्य का जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को जल सूर्य का कहा जाता है जल में पड़ रहा सूर्य का प्रतिबिंब उसको जल सूर्य कहा गया जल सूर्य कहा और कुछ सीधे सूत्र से कम प्रत्यय लगा हुआ है स्वार्थ जल में पड़ने वाला जो सूर्य है निंदित है प्रशंसित सूर्य तो ऊपर है स्तौत्य सूत्र ऊपर है सूर्य ऊपर है यह तो निंदित है स्वरूप ही नहीं जिसका ऐसा होता है यथा जल सूर्य का मैंने सूर्य अंश सूर्य का अंश है वो जल सूर्य सूर्य के निमित्त से निकला हुआ है उपाधि निमित्त बना सूर्य से निकला हुआ जैसा लगे वास्तव निकला हुआ नहीं वास्तव निकला हुआ सा सूर्यांश जल निमित्त अपाय जल रूपी निमित्त से वो दिख रहा था वो जल में सूर्य किससे दिखा था जल रूपी उपाधि के कारण वो निमित्त वही है जल उसका अपाय होने पर नाश होने पर सुख सुखा दिया जल को जहां प्रतिबिंब पड़ा हुआ था सूर्य का सूर्य में वगतवा न रहे फिर वो सूर्य रूप में होकर के वापस नहीं हो जल हाई नहीं तो वो अवश्य कहां से होना जल हाई नहीं इसी प्रकार यहां भी उपाधि को सुखाने पर या तीन उपाधि है फूल सुख कारण उपाधियों को हटाने पर सुखाने पर फिर यहां पर जीवत तो नहीं देखेगा परमात्मा ही होगा यहां उपाधि है जैसे जल उपाधि के कारण सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा था इसी प्रकार ये भी है उपाधि का वास्तविक नहीं वास्तविक को प्रतिबिंब है ही नहीं तो इसी प्रकार तथा उसी प्रकार अयम भी अवसर जैसे जल जल के निमित्त से पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब था जल रूपी उपाधि को सुखाने पर अपाय करने और नाश करने पर सूर्य ही हो जाता है सूर्य से अतिरिक्त सिद्ध नहीं कर सकता कोई ठीक इसी प्रकार यहां भी समझा तथा अहिमापी अंश जो परमात्मा का अंश है जीव कहा जिसको कर्ता भोक्ता माना गया है उपाधि काल में वह भी तेने भी आत्मना संरक्षति उसी परमात्मा से ही एक, एक हो जाता है जैसे जल में पड़ने वाला सूर्य वास्तविक सूर्य रूप में हो गया ठीक इस प्रकार ये भी उसी रूप में हो जाता है परमात्मा रूपी था परमात्मा रूपी सिद्ध होता है या उपाधि को सुखाना है या उपाधि थूल का कारण तीन प्रकार उपाधि है इसको विचार से सुखाना है कैसा हाँ, विचार विचार करके सुखाना है इसको दूर करना है कितनी बात है एवं एवं ठीक इस प्रकार समझना कहा यथावा अथवा दूसरा दृष्टांत अवच्छेदक भाव को लेकर प्रतिबिंब बाद लेकर कहा था बिंब प्रतिबिंब बाद और अवच्छेदक भाव यथा घटादि उपाधि परिचिन्न घटादि आकाश जैसे घटादि परिच्छेद के घेरे में पड़ा हुआ घटादि आकाश है शिष्य आकाश घटाकाश मठाकाश दुनिया भर के आकाश मानते हैं तत्त उपाधि के कारण घटादि घटादि स्वरूप आकाश है आकाश अंश आकाश का अंश है वो कौन सा अंश है किसका है आकाश का है घटादि आकाश जितने भी भाजते हैं उपाधि के कारण आकाश का अंश है अवय भाई है अंश आकाश का अंश होता हुआ घटादि निमित्त अपाय जो घटादि निमित्त थे यहाँ छोटा बनने के लिए अंश बनने के लिए वो घटादि निमित्त जो है उसका नाश करने पर उपाधि को तोड़ने पर आकाशम प्राप्य मूल आकाश को ही प्राप्त होना पहले भी आकाश ही था वो अभी भी आकाश ही सिद्ध होना है प्राप्त न निवर्त थे फिर आकाश से निवृत्ति नहीं होगी अब उपाधि है नहीं तो कहां दिखेगा घटाकाश घट नहीं है घटाकाश नहीं दिखता मठाकाश भी नहीं मठ नहीं है सूच्या सूची सुई नहीं है तो सूच्याकाश भी नहीं है स्थिति ऐसी हो जाएगी आकाश रूप में देखेगा ठीक इसी प्रकार यहां समझना है कि परमात्मा ही है शरीर शरीर आदि उपाधि के कारण परिचिन दिख रहा छोटा दिख रहा है जैसे घटाकाश घट रूपी अल्प उपाधि के कारण अल्प दिखा किंतु घर तोड़ दिया तो महाकाश में सिद्ध हो गया यानी महाकाश से निकला भी नहीं था महाकाश में जाके मिलना भी नहीं होगा महाकाश ही है वो न वो निकला न उसका ना, नाश घटना से ना नाश हुआ आकाश का न पहले विभाग हुआ था अब जाके संयोग हो गया ऐसा भी नहीं है ठीक इस प्रकार यहां समझ रहा है परमात्मा से अलग है ही नहीं हुआ ही नहीं भ्रांति से भाष रहा था हुआ ही नहीं और शरीर आदि भ्रांति हटने के बाद में जाके मिलेगा ऐसा भी नहीं है जब विभक्त हुआ ही नहीं तो क्या मिलना है ये सारी कल्पना थी औपाधिक कालीन बात थी ऐसे समझना कहा घटादि परिशुद्ध आकाश घटादि आकाश आकाश अंश सम घटादि निमित्त अपाये आकाशम प्राप्त आकाश को ही प्राप्त आकाश भाव को ही प्राप्त होगा होगा न निवर्तवे फिर वो आकाश की निवृत्ति नहीं होगी उपाधि नहीं तो कहां आएगा यहां आ नहीं सकता इति एवं इसी प्रकार संबंध अतः उपपन्नम उत्तम ठीक दृष्टांत दिया है यदगत्वा निवर्तनते तद धाम परम जो कहा सही कहा ष्ठ श्लोक में कहा हुआ सही है इसी प्रकार है जैसे घटाकाश आकाश को प्राप्त होने पर वापस नहीं होता क्यों उपाधि नहीं आप ऐसा ही है इसने भी उपाधि को तोड़ दिया न हम देह न मे देह में पहुंच गया तो परमात्मा से अतिरिक्त होता नहीं है परमात्मा ही है इसलिए यहां व्यक्ति और व्यक्ता करके दो विभाग हो नहीं सकता भिन्न नहीं अभिन्न है ये शंका थी ना वो वेद्य है होगा तो द्वैत होगा कहा था ये उत्तर दिया है क्या कहा था ऊपर नंबर उत्तम ठीक कहा दृष्टांत सही दिया यदगत्वा निर्वर्तनते इत्यादि दृष्टांत भी बताया सही है अब फिर प्रश्न हो गया अंश कैसे बनेगा परमात्मा निर्वय सावय पदार्थ में तो अंश हो जाता है अवय हो और एक अवय निकला अंश बन गया जब भाग हो गया निर्वय में अंश कैसे होगा ये शंका उठा रहे हैं ननो निर्वय से परमात्मा ना परमात्मा निर्वय है अवययुक्त नहीं है निरंश है वो निर्वय है कुतो अवयव एक देश हो अंश कैसे अवय बन गया एक देश कैसे हो गया अंश कैसे बना परमात्मा वो तो निर्वय है उसमें एक देश होना संभव नहीं है एक देश तो शरीर आदि में है अवय पदार्थ है एक देश होता है कोना कोना है इसका कई टुकड़े मिले हुए हैं अवयव हैं जुड़े हुए हैं उसमें एक अवयव होता है परमात्मा निर्वय है उसके अंश कैसे बना ये जी ये प्रश्न है सावयत्व यदि सावय है परमात्मा एक अंश टूट के आता है जीव बनने के लिए ये सावय हो तो अच्छा। विनाश प्रसंग जो सावय होगा नाश होगा ही होगा क्या होगा हाँ जैसे घटाजी सावय पदार्थ होते हैं नाश ये शरीर सावय पदार्थ है नाश अवय के सहित है नाश होता है सावय मानेंगे परमात्मा को इसको अंश निकालने के लिए जीव को अंश बनाने के लिए परमात्मा नाश हो जाएगा हाँ, और निर्वय मानेंगे परमात्मा का विनाश से बचाने के लिए तो क्या स्थित होगा फिर अंश होना संभव नहीं होगा कैसे अंश बन गया ये ममई हो कैसे बोला मेरा ही अंश है कैसे कहा निर्वय मानते हैं तो अंश होना संभव नहीं सवय मानेंगे परमात्मा को अंश निकालने के लिए तो विनाश हो जाएगा परमात्मा का स्थिति ऐसी है ननु निर्वय से परमात्मा को तो अवय एक दोष अंश परमात्मा निरवय है तो उसका एक देश एक अवयव एक टुकड़ा कैसे अंश बनेगा वो ये प्रश्न उठा आगे और व्याख्या है सावय यदि अवय सहित है परमात्मा तो विनाश प्रसंग हो विनाश का विनाश की प्रसक्ति कैसे अवय विभागा जितने भी बड़ा भी हो एक एक टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा निकालेंगे तो अवय का विभाग हो गया तो अवय भी नहीं रहेगा सावय हो तो परमात्मा नहीं रहेगा आपत्ति होगी तो सिद्धांत ये दोष उठाया पूर्वादि ने कैसे अंश बनता है जी सिद्धांत बोलते हैं नैश दोष है इसमें कोई दोष नहीं है अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न एक देश अंश है वास्तविक एक देश ही नहीं है परमात्मा ही है अविद्या के द्वारा रचा हुआ एक देश है अविद्या से कल्पना की जाती है अब अज्ञान के कारण कल्पना यही है अज्ञान के द्वारा कल्पित होगा वास्तविक वस्तु होता नहीं वो ये सिद्ध है अविद्याकृत उपाधि परिचय विद्या के द्वारा किया गया जो उपाधि है उपाधि को अविद्या अविद्या का है कार्य हो अविद्या का कार्य में उसमें घेरे में पड़ा हुआ है अभी लगता है ऐसा जैसे घटाकाश उपाधि घट के कारण से छोटा दिख रहा है एक देश लग रहा है आकाश का एक देश बहन हो रहा है वास्तव में आकाश एक देश है ही नहीं उपाधि तोड़ने पर आकाश ही था आकाश ही है ऐसे यहां अविद्याकृत उपाधि परिचिन्न एक अंश उपाधि के द्वारा किया गया जो उपाधि है उसके घेरे में पड़ा वो परिच्छेद में है इसलिए एक देश अंश कहा गया उसको अंश इव कल्पित है जैसे एक देश होता है ना तो अंश होता है भाग अवयव होता है उस पर कल्पित है वास्तव में नहीं अंश है कल्पना है उपाधि के कारण उपाधि शरीर आदि के कारण परिचय में दिख रहा है इसलिए जीव कहने लग गए हाँ यथा ऐसा है इसलिए दर्शित अयम अर्थ क्षेत्राध्याय विस्तार से त्रयोदश अध्याय क्षेत्राध्याय वही है उसमें विस्तार से इस विषय को दिखाया वास्तव में परमात्मा ही है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयमप्यय शरीरस्थ की पंक्ति है न करोती न लिपते आदि के द्वारा सर्वतः पाणीपात बहुत सारे बहुत बताया हुआ है उपाधि रूप से सभी जगह हाथ पैर वाला है यही है और बिना उपाधि ऐसे है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं ऐसी क्षेत्राध्याय में दिखाया है कहते क्षेत्राध्याय में त्रयोदश अध्याय वो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग है तो उसे विस्तार से इस विषय को दिखाया हुआ है वास्तव में ये अंश नहीं है अंश जैसा कल्पित है उपाधि के कारण से अंश जैसा लाग रहा है वास्तव में परमात्मा ही है यदि अंश हो तब तो मुझे आदि घटेंगे भी नहीं तुम तो वही हो कैसे बोलेंगे जो दूसरा है तो दूसरा बन नहीं सकता सच जीव ये जीव भूत जीवभूत सनातन है जीव है वहां मदक सत्व ने कल्पित मेरे अंश है परमात्मा कह रहे हैं मेरे अंश रूप से कल्पित है ममा अंश मद अंश मेरा अंश रूप से कल्पित है वास्तव में वास्तव में मेरा स्वरूप ही है वो कथम संसरती उत्क्रामती से प्रश्न होगा फिर ये लोकांतर में कैसे जाता है फिर कैसे यहां से निकलता है संसार को प्राप्त होता है फिर वहां से कैसे निकलता है इत्यादि माने यहां से कैसे निकलता है शरीरांतर को कैसे प्राप्त करता है कभी पौर पुराण आदि में चर्चा है कभी मनुष्य बनता है कभी देवादि बनता है अपने अपने कर्म के आधार पर ये कैसे बन पाएगा परमात्मा ही यदि है तो संसार को प्राप्त होना संभव नहीं है निकलना शरीर से निकलना भी संभव नहीं है व्यापक है तो फिर ये कैसे होगा ये उत्क्रमण उत्क्रमण करना यानी निकलना यहां से फिर और लोकांतर में जाना शरीरांतर में पहुंचना कैसे बनेगा व्यापक है परमात्मा रूप है तो कैसे होगा ये प्रश्न उठता है ये प्रश्न है तो उच्चते ग्रंथ से उत्तर देते हैं अरे बाबा वास्तव में इसका आना जाना नहीं है इंद्रियों का आना जाना होता है किसका होता है ये शरीर में जब अधिष्ठात्री देवता जब काम करना छोड़ देते हैं तो इंद्रिया समाप्त हो जाती है मरती तो नहीं और शरीरांतर में कर्म के आधार पर वहां पहुंच जाती है देखने सुनने आदि काम करेंगे तो शरीरांतर में हो जाती है उस स्थिति में इसको गया हुआ जैसा लगता है वास्तव में जाना कहा है नहीं व्यापक है स्थिति है जाना आना इंद्रियों का काम है इंद्रियों को जाने आने से इसका आना जाना देखिए उस उपाधि के में जब तक है परिचय में है तब तक आना जाना जैसा लग रहा है जैसे घट को यहां से हटाएंगे अपसरण करेंगे हटाएंगे तो आकाश भी जाता हुआ सा लगेगा क्या लगेगा व्यापक होता हुआ आकाश व्यापक है जाता हुआ लगता है वैसे इसकी स्थिति है आवागमन जो भी होना है इंद्रियों का होना है परिचिन्न वही है उनमें आवागमन होता है किंतु उनका आवागमन का आरोप इसमें हो जाता है ये कहना है मनसष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर कहा प्रकृति में स्थित शरीर में स्थित है प्रकृति के कार्य है प्रकृति शरीर उसमें स्थित बैठे हैं मन के साथ जो पांच इंद्रियां हमारे बैठी हुई है उसको कर सती जब आयु पूरी हो जाती भोग पूरा होगा इस शरीर में उसको खींचता इन अपने गोलोकों से उसको खींच देता है वह काम करना बंद कर देगा अब काम करने के लिए दूसरे शरीर में जाएगी तो ये भी जाता हुआ सा लगेगा बात इतनी है ये कहना है मानस अष्टान इंद्रिया स्रोत्रादि इंद्रिया कौन स्रोत्रादि इंद्रिया है स्रोत्र चक्षु इत्यादि प्रकृति स्थान प्रकृति में थी ये कहां है शरीर प्रकृति है प्रकृति में स्थित थे स्वस्थान अपने स्थान में थे अपने मतलब स्थान में बैठे थे इंद्रिया अपने मतलब गोलोकों में इंद्र को उन इंद्र को कर्ण सस्कुल यादव मैंने कर्ण सस्कुल वाले जो पूरी जैसा लगता है गोल गोल कान जो कर्ण सस्कुल सस्कुल मेरे पूरी पूरी के समान आकार का है गोल कर्ण सस्कुल आदि अपने मेरे गोलक में बैठे हैं जो इंद्रिया उसको खींचता है जब यहाँ के भोग समाप्त हो जाता है तो उनको खींचता है ये बात नहीं कहा प्रकृत यही कर्ण से स्कूली आदि जो प्रकृति है यही तत्त गोलक को प्रकृति शब्द कहा प्रकृति स्थान में लिया है उसमें बैठे हुए इंद्रियों को भोग समाप्त होने पर इस शरीर में जितना भोग था वो समाप्त हो गया चितानी उनमें थीत हुआ कर्षद में आकर्षित खींचता है कृष्ण विलेखन धातु है कर्षद में आकर्षित खींचता है माने काम करना बंद हो जाता है बंद होने पर शरीरांतर में काम करने लग जाना है इन्होंने जाना है पहुंच रहा कर्म के आधार पर यह भी गया हुआ ऐसा लगता है व्यापक है वहां है पहले से विद्यमान है इसमें कहा है ये आना जमन गमन वास्तव में इंद्रियों का है हाँ, मन का है इंद्रियों का है किंतु इनमें आरोप हो जाता है उनकी क्रिया को वास्तव में आवागमन नहीं है इसका व्यापक है परमात्मा रूप है ये कहना है ठीक है हमें देखना होगा भगवत प्राप्त निवृत्ति अंतत्वा भाव हम भगवान संसार की प्राप्ति निवृत्ति के लिए होती है कहीं भी जाएगा वापस आएगा संयोगा विपरोगा अंत वो घटेगा संसार की प्राप्ति जहां जाओगे स्वर्ग हो नरक हो अपने कर्म के आधार पर जहां पहुंचे वहां से वापसी होगी निवृत्ति है किंतु भगवान की प्राप्ति होने पर निवृत्ति नहीं होती यह अंतर है उसकी वापसी नहीं होती है ऐसा स्थान है ऐसा दरवाजा बंद हो जाएगा आ नहीं सकता भगवत प्राप्ति निवृत्ति निवृत्ति अंतत्व अभाव है यही है भगवान के प्राप्ति में निवृत्ति वापसी नहीं होती है निवृत्ति का अभाव है संयोगा विपरीत का अंतर नहीं लगता वहां ये कहा हुआ है सप्तम अर्थ तत्र शब्द का अर्थ भाष्य में श्रो तत्र कारण कहा था ये तत्र शब्द का अर्थ ये कहा जीव से परांशत्व भी कथम उगत समाधि इतिहास पूर्वादि शंका उठाता महाराज जीव परमात्मा का अंश है ठीक मान लिए फिर भी हमने जो दोष दिया है जो जाता है वापस नहीं होता जो वापस होता है करके कहा हुआ है महाभारत का श्लोक दिया इसका समाधान कैसे हो पाया ठीक है जीव परमात्मा अंश मुंबई पांग से जीव लोग आपने कह दिया मान गए परमात्मा अंश है जीव फिर भी हमारी शंका का समाधान कहा हुआ हमारी शंका थी संयोग आप अंतर जो संयोग होगा विछोड़ के लिए तो वापस होना ही चाहिए उसको क्यों नहीं होता ये प्रश्न का उत्तर क्या हुआ है प्रश्न आया तो दो वादों को लेकर के उतरते हैं प्रतिबिंबवाद बाद ये दो बातों से जैसे जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब सूर्य से अतिरिक्त नहीं है वो जल रूपी उपाधि के कारण दिखा था वहां दिखता था जल रूपी उपाधि को शोषण कर देते हैं हटाते दूर करते हैं सुखा देते हैं तो प्रतिबिंब अब नहीं है वहां बिंब ही था वो बिंब ही उस रूप में भाजता था उपाधि के कारण ठीक इस प्रकार है शरीर रूप उपाधि के कारण से भिन्न होकर दिख रहा है किंतु शरीर रूप उपाधि तोड़े के विचार के द्वारा तोड़ने पर फिर ये परमात्मा से अतिरिक्त तो होता ही नहीं है औपाधिक है ये जो जीव जीव वाला औपाधिक है प्रतिबिंबवाद को लेकर के कहा यही है कहा था यथा इत्यादि शब्द कहा था प्रणिवाद रोग से दृष्टांत ने प्रत्यक्ष यथा यथा शब्द से कहा था यथा लोके यथा जल सूर्य का इत्यादि कहा था जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य प्रतिबिंब है उसको जल सूर्य का मैंने कुत्सायाम ऐसा सूत्र है कान करने के लिए निंदा में है वो प्रशंसा में नहीं है निंदा में है कान प्रत्यय तो लगा जल में पड़ा हुआ सूर्य प्रतिबिंब सूर्य अंश सूर्य का अंश ही है वो सूर्य यहां आया एक टुकड़ा टूट करके आया ऐसा लगता है औपाधिक अंश है वो जल निमित्त अपाय जल रूपी निमित्त से आप दिखा था वो दिखता था जल रूपी निपात जल रूपी जो निमित्त है जिसके प्रतिबिंब होने के लिए उसको अपाय मैंने नाश करने पर दूर करने पर सूर्य में भगत सूर्य में एक हो जाने उसके सूर्य से भिन्न नहीं हो सकता बिंब से भिन्न नहीं हो सकता न निवर्तते फिर निवृत्ति नहीं होगी उसके सूर्य रूप में होकर बैठा रहेगा यदि जल था तब तो दिख रहा था जल नहीं है सूर्य ही है वो ठीक इस प्रकार है तथा अयम अपनी अंश कहा उसी प्रकार ये जो मवैवांश करके अंश बोला हुआ जिसको जीव को कहा वह भी तेरह आत्मा उस रूप से रहेगा परमात्मा रूप से रहेगा उपाधि को शोषण करना पड़ेगा विचार से शरीर आदि जो उपाधियां इसके संगत क्षति संगत हो जाता एक हो जाता है परमात्मा से एक हो जाता है इसी एवं है इसी प्रकार है समझना दूसरा देंगे दृष्टांत अवचेदकवाद को लेकर टीका नहीं पहले अवच्छेद पक्ष में आश्रित दृष्टांता दृष्टांतांतरेणा उक्त दोष समाधि दर्शे अवच्छेदक भाव को लेकर के परमात्मा ही है ये परमात्मा से भिन्न है ही नहीं ये परमात्मा ही है या उपाधि हटाने की जरूरत उपाधि हटाने पर यह परमात्मा से अतिरिक्त होता ही नहीं है अवच्छेदक बाद में जो अंतकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब नहीं है माने वास्तव में परमात्मा ही है उपाधि छोटी होने से छोटी लगा इसको छोटा लगा स्थिति यह है अवच्छेदक बात अवच्छेदक पक्ष में आश्रित दृष्टांतांतर्गत उक्त दोष समाधि समाधि माने समाधान समाधि बोलो समाधान बोलो एक ही चीज है ल्यूट करेंगे तो समाधान समपूर्वक अंगपूर्व धा धातु है ल्यूट और वही सम अंगपूर्व धा धातु से की करेंगे तो समाधि यह है अर्थ एक ही है तो यथाच इत्यादि कहा था इसको यथा बा इत्यादि कहा था यथावा घटादि उपाधि परिचिन हो घटादि आकाश है घटादि रूप उपाधि के घेरे में पड़ा हुआ घटाकाश होगा वहां आकांक्ष आकाश अंश आकाश के अंश है वो हम्म, आकाश का ही हो आकाश का स्वरूप होता हुआ घटादि निमित्त अपाय जब उसको आकाश रूप में देखना हो तो घटादि उपाधि के हटाना होगा दूर करना होगा फोड़ना पड़ेगा घट को तोड़ना पड़ेगा फिर वो आकाश से भिन्न दिखता ही नहीं घट के कारण भिन्न दिख रहा था था वही आकाश था ठीक है इस प्रकार आकाश हम प्राप्त जो आकाश को प्राप्त होगा पहले घट आकाश बोलते थे अब महाकाश को प्राप्त होगा एक ही है वो भिन्न था ही नहीं था आकाश टूट के आया आया भी नहीं था आकाश में जाके मिलना भी नहीं है आकाश ही था उपाधि के कारण अल्पत्व दिख रहा था घटाकाश नाम मिल गया था उपाधि हटा दिए घटाकाश नाम आकाश नाम है उसका ठीक इस प्रकार न निवर्तते जैसे महाकाश प्राप्त करके निवृत्ति नहीं होती ठीक इस प्रकार इतम अतः उपमनम युक्तम यदगत्वा निर्वर्तन इस ठीक कहा यदगत्वा निर्वर्तन थे तथा परम जो का सही है ये मेरा ही स्वरूप है ये वास्तव में उपाधि के कारण से भिन्न दिख रहा जीवत्व दिख रहा था तो जो उपाधि को हटाना होगा अंतकरण आदि जो उपाधि बने हटाना हटाने पर मेरा स्वरूप से अतिरिक्त होता ही नहीं है यही है जो तत्वमसी आदि महाभाग्य सुनाया जाता है शरीरों पृथक करने पर सुनाया जाता है शरीर सहित लेकर के तत्व में से बोला भी नहीं जाता अहम परमाश में बोला भी नहीं जाता ये समझना पड़ेगा इसको यदि शरीर के साथ अहम को बोलता है तो महापापी हो शरीर को हटा करके फिर मैं जीव हूं कहता तो पापात्मा है पापी है वो शरीर हटा करके फिर पृथक करने के बाद मैं जीव हूं जीव हो कहता तो महापापी हो उस काल में तत्व में से तो वही अहम ब्रह्मास्म उस काल की ठीक है मैं कहा आक्षेप समाधि में उपसर्ग कहा आक्षेप जो पूर्वादि का आक्षेप था कैसे बनेगा परमात्मा शुभ तो इसका उसके उत्तर का समाधान उपसंहार करते अत इत्यादि शब्द कहा था यह तो पूर्वादि का ही था परस्य निर्भयत्वात तद अंशत्व जीव से अयुक्तम विसंगत है बोलता बोलता परमात्मा तो निर्भय है तो जीव कैसे अंश बने अंश बने सावय का एक टुकड़ा अलग हो गया तो अंश बोलेंगे उसको परमात्मा निर्वय है तो अंश कैसे बनेगा उसका एक टुकड़ा कैसे बना जीव एक टुकड़ा है कैसे बोला ये शंका यही है धनु इत्यादि शब्द पूर्वादि की शंका है ननो निर्वय से परमात्मा परमात्मा निर्वय है उसका को तो अवय उसका एक कोना कैसा होगा निर्वय है परमात्मा एक अंश है एक देश कहना अंश कहना कैसे बनेगा और स्वाभाविक तो यदि जीव को एक देश बनाने के लिए सावयव को कल्पना करेंगे विनाश की प्रसक्ति होगी क्या होगी परमात्मा रहेगा नहीं विनाश की प्रसंग क्यों अवय विभाग परमात्मा है किंतु अवय से अतिरिक्त हो गया अवय छूट गया उसका विभाग हो गया विभाग विनाश हो जाएगा दोनों दोष है निर्वय मानेंगे तो अंश कैसे मानोगे और यदि अंश मानने के लिए सावय मानोगे तो परमात्मा नहीं रहेगा स्थिति ऐसी हो जाएगी ये शंका आ गई उत्तर देते नैष्पश से यही कहना है टीका में कहा तस्य निर्भय तो सारे देखो ये जीव है ना परमात्मा तस्य मैंने परमात्मा निर्भय निर्भय भी है परमात्मा अंश माने वहां टूट करके आना नहीं है काल, कल्पना है उपाधि के कारण ऐसा दिखता है ठीक कहना है सावय तो पूर्वादि कहा था निर्भय को तो साधन करता है निर्भय परमात्मा सावय होगा तो विनाशी हो जाएगा पूर्वादि कहा वस्तु तो निरक्षस्यापी परस्य कल्पनया जीवो अंशो भविष्य परिहार सिद्धांत वास्तव में निरंश है परमात्मा निर्वय है अंश नहीं है जो निरक्ष वस्तु है उसके भी कल्पना से अंश की कल्पना हो जाती है किसके द्वारा कल्पना कल्पना में उपाधि की कल्पना से वस्तु तो निरंश से आपकी वास्तव में निरंश का भी परस्य परमात्मा का कल्पनाया जीवो अंशो भविष्य कल्पना के द्वारा जीव अंश हो जाएगा निरंश परमात्मा कहेगी कल्पना के द्वारा जीव अंश माना जा सकता है कल्पना से वास्तविक नहीं यदि परिहरित का नैश दोष शब्द कहा देखो अविद्या के तो उपाधि परिचन्न वासी में क्या था अविद्या के द्वारा रचा गया जो उपाधि है शरीर आदि ये शरीर आदि परिचिन्न है इसलिए यहां जो शरीर के घेरे में जो परमात्मा पड़ा हुआ है अवश्य अवच्छेदकवाद के माध्यम से परमात्मा ही है शरीर के घेरे में है इसलिए उसको कहा जाता है अंश रूप से कल्पना की गई वास्तव में नहीं जैसे महाकाश घटाकाश रूप से कल्पना की जाती है घटाधि उपाधि के कारण ठीक इस प्रकार वस्तुतस्तु जीव से अंशत्व जीव अंश नहीं है वास्तव में तो एक करके कहा हुआ है परमात्मा का अवयव नहीं है जीव वास्तविक है एक ही है वस्तु तस्तु वास्तव में देखो तो जीव से न अंशत्व परमात्मा न परमात्मा के साथ अंश नहीं इसका जीवात्मा का तावन मात्र तो है तो परमात्मा स्वरूप ही है तावन परमात्म स्वरूप तया तो यही है ताया दर्शित दिखाया कहा क्षेत्र अध्याय त्रयोदश अध्याय में दिखा गया है अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा ही बात अयम इसी को अयम शब्द से कहा हुआ ये परमात्मा ही है ऐसा अविनाशी है इत्यादि करके कहा यदि परक्ष अंशत्व कल्पितो जीवो वस्तुतः तदात्मा एवं न तरी संसारित्व उत्क्रांति संगत पूर्वादि बोलता है यदि वास्तव में परमात्मा का अंश कल्पित है परमात्मा ही है अंश रूप से कल्पना की गई हो जीव को तो, तो कल्पित हो जीव वस्तुतः तदात्मा यह तो परमात्मा ही है कल्पना रूप से इसको जीव कहा गया कल्पना की गई जीवत्व की कल्पना हो यदि न अंशत्व हाँ। जीवो वस्तुतः तदात्मा वास्तव में तो परमात्मा ही है यदि परमात्मा है तो ये निर्भय होगा क्या होगा व्यापक होगा निर्भय होगा फिर ये आवागमन कैसे होगा इसका शरीरांतर को छोड़ना शरीरांतर में जाना इत्यादि आवागमन कैसे होगा यदि परमात्मा ही है ये वास्तव में तो फिर स्वर्ग आदि जाना फिर वापस होना इत्यादि कैसे बनेगा पूर्व शरीर को त्यागना उत्तर शरीर को प्राप्त करना आदि आवागमन कहां से कैसे बनेगा फिर ये शंका पूर्वादी है यदि परस्य अंशत्व कल्पित हो जीव परमात्मा का अंश रूप से यदि कल्पित है जीव तो वस्तुतः तदात्मा वास्तव में तो परमात्मा ही है कल्पित है परमात्मा के अंश रूप से कल्पित है वास्तव में परमात्मा ही है यदि ऐसा हो तो न तरी संसारी तुम उत्क्रांति के बाद फिर संसारी भी नहीं कर सकते इसको संसारण करने वाला नहीं मान पाएंगे परमात्मा व्यापक है संसारण होगा ही नहीं उत्क्रांति गति आदि भी संभव नहीं यहां से निकलना दूसरी शरीर में जाना नहीं हो सकता ये कैसे होगा फिर ये शंका आ गई शंका थी कथम इत्यादि पूर्वादी ने शंका की थी कथम संसरति उत्क्रापति च फिर परमात्मा ही यदि यह व्यापक होगा ना व्यापक है तो स्थिति में फिर संसार में घूमना और शरीर से निकलना आदि कैसे होगा उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया अरे बाबा ये मनादि को लेकर के गमनागमन होता माना जाता है जैसे घट को हटाने पर घटाकाश का भी जाना जैसा हो जाता है वास्तव तो आकाश नहीं जाता घट ही जाता वो घट जाता है स्थान से उस स्थान में घट पहुंचता है तो आकाश का भी जाना जैसा लगता है क्यों घट के घेरे में है वो इस प्रकार जब तक शरीर के घेरे में होगा इंद्रियों के घेरे में पड़ा है मन के मन के घेरे में है तब तक इनके जाने पर उसके भी जाना जैसा लगता है वास्तव में जाता नहीं बात यही मन स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर स्थिति कहा था भोग पूरा होने पर इन सबको खींच देता है अब यह में कार्यशैलियां नहीं रहेगी अब दूसरे शरीर में जाना होगा इन्होंने कार्य करने के लिए जब ये जाते हैं तो वो भी गया हुआ सा लगता है जैसे घट यहां से वहां जाता है तो घट के भीतर का आकाश का भी जाना जैसा लगता है वास्तव में आकाश में गमन है ही नहीं व्यापक है वो ऐसे यही उत्तर देना है जीव से संसरण उत्क्रमण से उपाधि तो उपकृत जीव का संसार में घूमना अथवा इस शरीर से निकलना आदि जो है इसको आरंभ करते हैं कैसे होता है इसका क्या होगा उच्चते ग्रंथ से कहा था वास्तव में कहा था उच्चते से मनसष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर से भी कहा था मनस जो छह इंद्रिया हैं इनको प्रकृति में तो स्थित है अपने जो गोलक में बैठे थे ये इसको खींच लेता है या भोग पूरा हो गया इस शरीर में तो इनको खींच देता है कितना काम करता है और यानी कि शरीरांतर में जाने पर उसका भी गया जैसा लगता है मनुष्य है इंद्रिया स्त्रोत्रादि में स्त्रोत्रादि इंद्रिया है प्रकृति स्थान में स्वस्थान है शुष्क प्रकृति स्थितानी कहा था प्रकृति प्रकृति स्थानी कहा था अपने अपने स्थान में है वो प्रकृति है ये शरीर अपने अपने गोलक में बैठे थे इंद्रिया वो पूरा हो गया इस शरीर का तो इनको खींचता है कर सकती आकर्षित खींचता है ये कहा ठीक है मैं कहते हैं स्वस्थान स्थितानम इंद्रियाणाम जीवन आकर्षण से कालम प्रसन्न कब करता है काम ये पूछा है हाँ, अपने अपने गोलक में बैठे हुए जो इंद्रिया थे काम कर रही थी देखना सुनना आदि काम करती थी किस काल में इसको अपने खींच लाई है इनका तो कहते भोग समाप्त होगा तब खींचेगा ये कहना स्वस्थान है चेताना निग्रहण अपने स्थान में अपने गोलकों में बैठे हुए जो इंद्रिया थे काम कर रही थी उनको जीवन आकर्षित काल प्रसिद्ध जीव के द्वारा जो आकर्षित होना आकर्षण होना खींचा जाना है उसके काल पूछता पूरा कब होगा ये काम मैंने मरण काल में होगा कब होगा स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वियोग को मरण कहा जाता है उसी काल में सूक्ष्म शरीर थूल शरीर को छोड़ करके अन्य शरीर पर पहुंच जाते हैं बात यही मरण जीवात्मा की मरण नहीं है सूक्ष्म शरीर को घर बदलना होता है क्या होता है ये घर पुराना हो गया छोड़ देता है नया घर में जाता यही हमारा ये कहना है कश्मीर काले पूछा किस काल में जीव आकर्षण करता है इनको अपने अपने गोलक में बैठे हुए इनको किस काल में काम कर खींचता है आया तो उत्तर देते हैं ये

द्वितीय पाद को पहले लेना यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर ईश्वर परमात्मा ये जो है ना यहां से निकलने वाला परमात्मा ही है ये परमात्मा से भिन्न नहीं है उपाधि से भिन्न तो लगा था उपाधि हटाने पर जैसे जल रूपी उपाधि हटाने पर प्रतिबिंब पर बिंब रूपी दिखता अनेकों से नहीं दिखता पर वही होता है जल के कारण भिन्न दिख रहा था अथवा घटादि जो आकाश मानते थे घट के भीतर आकाश आकाश से पृथक समझ रहे थे हम अलग समझ रहे थे बात उपाधि के कारण से घट रूप उपाधि को तोड़ दिया आकाशीय है वो ऐसे ही जीव की स्थिति भी यही है चाहे प्रतिबिंबवाद लो चाहे अवसरवाद लो स्थिति यही है परमात्मा ही है उपाधि के कारण भिन्न भाष रहा है बात यह है तो उत्तर दे रहा है कि यद्यपि उत्क्रावधि ईश्वर का जब ये ईश्वर है ईश्वर उत्क्रावधि इस शरीर से निकलना होता है इसको माने उपाधि के निकलने से निकलना जैसा होता है वास्तव में व्यापक में निकल रहा है कहीं जाना संभव नहीं है ईश्वर हमारे जीव जीवत तो कोई नहीं ये ईश्वर है सब कहते परमात्मा ही है ये यहां से निकलता है जब और शरीरम यदभाव काल दूसरे शरीर को जो प्राप्त करता हो यहां छोड़ना दूसरे शरीर में जाना अपने कर्म के आधार पर जैसे भी होता हो एतानी गृहित इन इन जो मन के साथ छह इंद्रियों को लेकर ही जाता है इनके सहारे में जाना जैसा लगता है इसका एतानी मनसष्टानी इंद्रिया जो मन के सहित छह इंद्रिया माने जाते हैं मन सहित छह माने मन के मन को भी इंद्रिय लिया हुआ है गृहत्वा यथानी समझाति इनको लेकर के जाता है समय ज्ञाति गच्छति जाता है कैसे जाता है वायुर्गंधान इवास है दृष्टांत है जैसे वायु गंधों को लेकर जाता है कहां से उनके आश्रय से जहां बैठे थे गंधा कहा पुष्प आदि में थे गंधा आश्रय मैंने आश्रय जहां गंध था वहां से लेकर के चला जाता है इस प्रकार इंद्रियों को अपने अपने गोलक में बैठे इंद्रियों को उखाड़ के ले जाता है जैसे वायु गंधों को पुष्प से खींच के ले जाता है गंधों को ले जाता है पुष्प को नहीं ले जाएगा ठीक है इस प्रकार गोलकों को नहीं ले जाता इंद्रियों को ले जाता है वायु गंधा आश्रय आश्रय मैंने आश्रयात जो आश्रय है गंधा का आश्रय पुष्पादि है वहां से जिस प्रकार से गंधों को वायु ले जाता हो ठीक इस प्रकार एक परमात्मा है या ये इंद्रियों को लेकर चला जाता है ये कहना है समय हो गया है भाष्य ठीक है फिर ओम पूर्ण पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति